हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तीन सौ दो के बाद तीन सौ दो के बाद अयोध्या कांड तीन सौ दो कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे निज सनेह सुरपति छल भारे सभाराउ गुरु महिसुर मंत्री भरत भगति सब कै मति जंत्री चितवत चेत लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई सुनत सुखद वर्णत कठिनाई जासु बिलो की भगति लवलेसु प्रेम मगन मुनि गण मिथलेशु महिमाता सुख कि में तुलसी

मति गति बाल बचन की नाई भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नभ कटक रही निहारे रत रही निहारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भोलो भई सब संतन की जय अब स्मरण करें कि चित्रकूट है और अयोध्यावासी आए हुए वहाँ बहुत दिन से ठहरे हुए हैं महाराज जनक भी जी आ गए हैं और उनको भी ठहरे हुए कई दिन हो गए तब एक दिन भगवान श्री राम जी के कहने से वशिष्ठ जी फिर जनक जी के पास गए और जनक जी और वशिष्ठ जी भरत जी के पास गए और फिर उनसे बात करके एक सभा बैठी सब लोग भगवान श्री राम जी के पास पहुंचे और सब लोगों की एक सभा हुई उस सभा में वशिष्ठ जी ने कुछ कहना प्रारंभ किया उसके बाद फिर भगवान श्री राम जी ने कुछ कहा भरत जी ने भी अपने भाव व्यक्त किए बात चर्चा ये चली कि अब क्या होना चाहिए तो जो भगवान श्री राम जी कहें वही हो भगवान श्री राम जी ने कहा कि जो भरत कहें वही हो भरत जी फिर भगवान श्री राम जी से कहने लगे कि भगवान हमें तो बस यही है कि हम तो आपके सेवक हैं आज्ञा सन्न सुसाहिक सेवा सो प्रसाद सिर धन जन लेवा यह आज्ञा हमारी तो सबसे बड़ी जो है वो यही है कि आप आज्ञा दीजिए वैसा ही हम करें <clears throat> हमारा काम आज्ञा पालन करना है वही हमारा धर्म है और आपके समान ऐसा महान सेवक सुंदर कौन होगा आपकी आज्ञा का पालन करना और आपकी सेवा में रहना ये बड़े सौभाग्य की बात है ये सब भरत जी ने अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए भरत जी की जैसे जैसे भक्ति अपनी भरत जी बोल रहे थे तो उनके हृदय की भक्ति प्रकट हो रही थी लोग देख रहे थे भरत जी के हृदय में भगवान के प्रति कैसा समर्पण भाव है कैसा विश्वास है कैसे उनकी प्रीति है ये सब देख रहे थे उधर <clears throat> देवताओं की बात पहले ही कही थी वे लोग जो इंद्रादि देवता कुमंत्रणा कर रहे थे और ये सोचते थे अयोध्या वासियों के बुद्ध प्रदय उन्होंने अपनी माया का प्रभाव फैलाया <clears throat> इंद्र के देवताओं की माया ने सब अयोध्या वासियों के लोगों के ऊपर सबके सिर के ऊपर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया तो वहां <clears throat> उस माया के प्रभाव से लोगों की बुद्धियां बदलने लगी कभी उनको ये लगे कि हम अपने अयोध्या घर चले कभी उनको ये लगने लगे कि भगवान राम की यहाँ सेवा में रहे उनको देश प्रकार से डावाडोल होने लगे लेकिन ये माया का प्रभाव सबके ऊपर एक समान नहीं हुआ तो गोष्ठ देख रहे थे पिछली बार की गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि देखो देव माया तो जो ऐसी माया है वो तो सारे विश्व को नचाती रहती है सबके ऊपर प्रभाव डालती है लेकिन उसका प्रभाव सब पर एक समान नहीं होता है ये भाव ध्यान रखना चाहिए जो व्यक्ति जैसा होगा उसके ऊपर माया का प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा यहाँ पर इस सभा में माया का प्रभाव भरत जी के ऊपर नहीं पड़ सका वशिष्ठ जी के ऊपर नहीं पड़ा जनक जी के ऊपर नहीं पड़ा ऐसे कुछ व्यक्ति थे भगवान राम की तो सब माया ही माया की वो तो सबके माया मायापति हैं ये सब देवताओं की माया में शक्ति ही कितनी है भगवान राम के ऊपर तो उसका प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था लेकिन अन्य लोगों में भी इन लोगों के ऊपर तो कुछ भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन फिर और जो दूसरे लोग थे मंत्रियों से भी नीचे स्तर के और व्यक्ति थे और जिन लोगों में <clears throat> वैसी भरत जी जैसी भक्ति भी थी लेकिन भरत जी जैसी नहीं थी वैसे जी जैसा ज्ञान नहीं था ऐसे व्यक्ति जो लोग थे उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी माया का प्रभाव पड़ने लगा तो ये देखते हैं कि देखो <clears throat> कि माया तो सारे संसार में छाई हुई है लेकिन जो लोग बिल्कुल भौतिकता में पड़े हुए हैं आध्यात्मिक चेतना रंच मात्र भी नहीं है ये लो, इन लोगों को जो सिर पर ये माया ऐसे चलती है और ऐसे नचाती है कि वो उनको पता भी नहीं होश भी नहीं रहता कि कहाँ क्या कर रहे हैं <clears throat> बिल्कुल माया से पराभूत हो जाते हैं एकदम से लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत भी ज्ञान आया थोड़ी बहुत भी भक्ति आई तो फिर उन पर माया का प्रभाव भी कम होने लगता है जैसे जैसे आध्यात्मिक विकास होता गया वैसे वैसे माया का प्रभाव भी घटता जाता है <clears throat> और माया का प्रभाव घटने की सूचना किस बात से है कि जब जो व्यक्ति को भौतिक जो पक्ष जीवन का है वो धीरे धीरे करके मूल्यहीन दिखाई देने लगे और मिथ्या भी दिखाई देने लगे परमात्मा की सत्यता साफ समझ में आने लगे परमात्मा के प्रेम परमात्मा की कृपा उस पर अवलंबित होना व्यक्ति जहाँ समझ ले जान जाए ऐसी सामर्थ आ जाए तो समझो कि अब माया का प्रभाव भी नहीं है <clears throat> तो ऐसा बता करके तुलसीदास जी माया के प्रभाव के बाद में अब क्या कहते हैं आगे से ये अब आप देखिए <clears throat> कहते हैं कि कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे तो वे लोग अयोध्या वासियों को भगवान कृपा निधान भगवान ने देखा माने वो तो सर्वांतरयामी है सत्य हृदय की बात को जानने वाले हैं तो अयोध्या वासियों को देखा ही बड़े दुखी हैं <clears throat> कैसे दुखी हैं कि निज सने सुरपत छल भारे भगवान राम ने देखा एक ओर तो हमारा प्रेम उनको खींच रहा है और दूसरी ओर सुरपति छल भारे और सुरपति इंद्र के छल के कारण से दूसरी ओर उनका चित्र दूसरी तरफ खींच रहा है तो इस प्रकार से खींचा में पड़े हुए हैं एक तरफ देवताओं की माया खींच रही है अयोध्या उनको याद आ रही है सोचते हैं कि अयोध्या चलना चाहिए बहुत दिन हो गए पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा कैसे क्या पड़ा होगा ये ध्यान आता है दूसरी तरफ पर यह आता है कि यहाँ भगवान श्री राम जी हैं यहाँ कितना आनंद है यहाँ कितनी प्रसन्नता है तो वो याद आती है इन दोनों बातों के कारण से उनके मन में जो एक प्रकार का तनाव है खींचातानी है वो भगवान राम ने देखा श्री राम जी ने और उनके मन को लगा बड़ा दुख लगा कि देखो कैसी स्थिति कर दी इंद्र ने तो सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री अब ये कहते हैं कि देखो ये भरत जी का भी प्रभाव दिखाते हैं कि भरत जी के ने जो कुछ इस समय बोला इतना तो उनकी भक्ति उसका प्रभाव दूसरी ओर दिखाते हैं बेटा सभा के ऊपर महाराज जनक जी वे गुरु के माने वशिष्ठ जी महेश्वर के माने वहां विप्र लोग और उपस्थित वे मंत्री लोग सुमंत्रालय मंत्री हैं वे सब भरत भगत सब कह मत जंत्री और भरत की भक्ति ने सबकी बुद्धि के ऊपर ताला डाल दिया जंत्र के माने ताला सबकी बुद्धि पर ताला डाल दिया कि माने एक ये मुहावरा है बोलने का कि माने अब बुद्धि किसी की काम नहीं करती भरत तो अपने बोलते बोलते चुप हुए लेकिन चुप होने के बाद में और लोगों की बुद्धि कुछ काम करे तो वे फिर कुछ बोलना शुरू करें प्रयास करें आगे बढ़े लेकिन कहीं कोई किसी का जो है वो हो बुद्धि काम नहीं करती कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब लोग अब उन सब लोगों की स्थिति क्या है उसको कहते हैं कि राम ही चित्रवत चित्र लिखे से सब लोग भगवान श्री राम जी की ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे तस्वीर बनी बैठे हो माने स्थिर बिल्कुल बैठे हुए हैं वो हिलते डुलते भी नहीं है केवल भगवान श्री राम जी की ओर बस उन्हीं की ओर देख मात रहे हैं और सकुचत बोलत बचन सिखे से और उनके बोलने में संकोच लगता है संकोच लगना है मैंने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है संकोच में पड़े हुए क्यों उदाहरण देते हैं वचन से कि जैसे कि कोई सिखा करके किसी व्यक्ति को भेजे देखो अगर कोई ऐसा कहे तो तुम ऐसे कह देना हा? तो ये जो तो सिखाई हुई बात और सिखाई हुई बात जब बोलने लगता है कोई व्यक्ति तो सोचता है कि अब यहाँ पर इस समय कहा तो गया हमसे ऐसे बोलने के लिए हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए तो इस बात में पड़ता है तो वो उसी प्रकार से इन लोगों की स्थिति है माने इनके मन में अगर कुछ बात आती भी है कहने के लिए तो बोलने के लिए साहस नहीं होता सब चुपचाप बैठे भगवान श्री राम जी की ओर देख रहे हैं भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई अब देखो अब फिर तुलसीदास जी एक बार भरत जी के प्रेम की और उनकी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं <clears throat> भरत जी के इतने गुणों का वर्णन एक ही पंक्ति में कर दिया कहते हैं कि भरत प्रीति भरत का प्रेम देखो कितना प्रेम भगवान श्री राम जी में है नति मैंने उनकी <clears throat> विनम्रता देखो कैसे विनम्र है भरत जी मैंने वहां पर इतनी सभा के बीच में <clears throat> ऐसे दुस्साहसपूर्ण वचन नहीं बोलते वो नहीं करते बड़ी विनम्रता से बोल रहे हैं और विनय <clears throat> विनय के माने भगवान से बड़ी भक्ति रखते हुए उनकी प्रशंसा करते हुए नम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं और भाई देखो भरत की भक्त की बड़ाई की मैंने बड़प्पन की बात जो व्यक्ति महान है उसकी बात में भी महानता होगी उनके गुणों में महानता होगी तो भरत जी की महिमा को देखो सुनो तो सुखद कहते हैं उनको तो सुनो कि भरत जी की महिमा कैसे सुनने में तो सुखदाई है लेकिन वर्णन तो कठिनाई है अगर कह दिया जाए जरा भरत जी की भक्ति का वर्णन करो तो कहना बड़ी मुश्किल पड़ेगा फिर बताना वर्णन करना तो ये तुलसीदास जी वैसे अपने लिए कह रहे हैं कि भरत जी की, की महिमा को सुनो तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगेगी <clears throat> प्रिय लगेगी बड़े प्रेम पूर्वक सुनते रहो जैसे जैसे भरत जी की महिमा का वर्णन होगा तैसे तैसे सुनने में आनंद आएगा लेकिन कहा जाए कि कहो तो कहना मुश्किल है क्योंकि कहना जो स्थूल बातें हैं भौतिक जगत की बातें हैं वो तो कहना आसान है और जो विषयों की बातें हैं वो कहना और भी आसान है भोग विलास की विषयों की <clears throat> निंदा की ये बातें बोलना बहुत आसान है लेकिन अगर किसी से कहा है कहा जाए कि थोड़ा भक्ति का वर्णन करो भक्ति क्या होती है ज्ञान का वर्णन करो थोड़ा उसकी भी चर्चा करो तो हकलाने लगे कि जीव मुंह से बात निकलेगी नहीं मुश्किल बात पड़ जाएगी फिर उसके लिए बार बार सोचेगा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए जना हम सही कह रहे हैं जना हम गलत कर रहे हैं ये सब उसके मन में पड़ने लगेगा बोलना मुश्किल पड़ेगा तो इसी भरत की भरत जी की भक्ति का वर्णन करना ये बात मुश्किल है कहते हैं जहां से भी लोग भगत लवलेसु अब कहते हैं देखो भरत जी के तो इतनी भक्ति है कि कुछ कहना नहीं उस लवलेस के मैंने भरत जी की भक्ति का थोड़ा सा भाग अभी देखा जैसे भरत जी बोले तो उनकी भक्ति थोड़ी प्रकट हुई तो थोड़ी सी भक्ति लवलेस के मैंने थोड़ी सी <clears throat> तो जिन भरत जी की भक्ति को थोड़ी भक्ति को लवलेस भी प्रेम मदन मुनिगन मिथिलेश <clears throat> तो उनके मुनिगन और मिथिलेश उनके मुनिगन के मैंने वशिष्ठ जी आदि जितने मुनि लोग हैं वे और मिथिलेश राजा जनक जी हैं वे प्रेम मदन प्रेम मग्न हो गए अब देखो भरत का भक्ति का प्रभाव ये होता है कि जब किसी की भक्ति को देखो कोई भगवान का भक्त है और वो भक्ति के ऐसे भक्ति के दर्शन हो और भक्ति के वचन सुने तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है तो जो जो उसके निकट होगा भक्त के तो वो भी प्रेम में मग्न हो जाएगा उसके हृदय में भी भक्ति का संचार होने लगेगा ये भक्ति का प्रभाव है और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समझता तो हम भक्त हैं लेकिन उसके पास खड़ा होने वाला व्यक्ति दुखी हो घबरा उसके पास जाने में तो इसके माने है वो भक्ति है नहीं अपने आप को भक्त में भक्त समझ रहा है अब देखो यहाँ से इसी से पता चलता कि ये अर्थ किस प्रकार से लगते देखो ये भरत जी की भक्ति का जरा सा प्रभाव ये पड़ा कि मुनिगन और मिथिलेश जैसे लोग भी जो है प्रेमन्न हो गए साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है तो ये भक्ति का प्रभाव इस प्रकार का तो महिमा सुता है कि मैं तुलसी ऐसे भरत जी की भक्ति को या भरत जी की महिमा को या भरत की भक्ति की महिमा का भला तुलसीदास कैसे वर्णन करे तुलसीदास अपनी और विचार करके इस प्रकार बोल रहे हैं कि भला हम भरत जी के यहाँ तक तो भरत जी की भक्ति का बहुत कुछ जहाँ तक उनसे वर्णन हो सकता था अनेक पात्र हैं उनके द्वारा कराते चले आ रहे हैं वशिष्ठ जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं भरद्वाज जी को भी देखा है वो भी प्रशंसा करते हैं माताएं भी प्रशंसा करती हैं जनक जी भी प्रशंसा करते हैं जनक जी की सुनैना जी वे वो भी बड़ी प्रशंसा करती हैं कौशल्या माँ भी प्रशंसा करती हैं तो सभी लोगों की ओर से कहते चले आ रहे हैं सब अपने अपने ढंग से भरत जी की भक्ति की प्रशंसा करते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी भक्ति का भरण भरा हम क्या करें भगत सुभाय सुमत ही हुलसी अब ये तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी की भक्ति का स्मरण करने से क्या हुआ तुलसीदास जी को क्या प्रभाव पड़ा भगति सुभाय उनकी भक्ति जो है भरत जी की भक्ति तुलसीदास जी के हृदय में भी आई अब तुलसीदास जी को इतना वर्णन करना पड़ा तुलसीदास भरत जी की भक्ति को तो भरत जी की भक्ति का वर्णन अगर तुलसीदास करते हैं तो उनके हृदय में वो भक्ति आएगी नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे इसलिए कुछ न कुछ भक्ति आई <clears throat> भरत जी के हृदय में उनके तुलसीदास जी के हृदय में तो फिर उन्होंने फिर उसका वर्णन किया लेकिन उसका प्रभाव उस भक्ति का क्या हुआ जब तुलसीदास के हृदय में आई तो स्वाभाविक मन स्वाभाविक रूप से सुमति ही हुलसी तो उनके हृदय में सुमति हुलसी मैंने सदबुद्धि जागृत हुई अब जो अब दोनों का संबंध जोड़ करके देख लो ये कहते हैं एक और भक्ति है और दूसरी ओर सदबुद्धि है दोनों में क्या संबंध है यदि भक्ति होगी तो सदबुद्धि आएगी यदि भक्ति नहीं होगी तो भक्ति की शून्यता में व्यक्ति में दुर्बुद्धि आएगी और किसी में सदबुद्धि क्यों आती है जब उसमें आध्यात्मिक चेतना हो भक्ति हो प्रेम हो भगवान में ये सब होगी तो सदबुद्धि भी आएगी तुलसीदास जी स्वयं अपने आप अपने अनुभव से बताते हैं कि हमारे हृदय में ऐसा हुआ बालकांड में एक जगह इसी प्रकार की चौपाई और भी है शंभ प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी ये चौपाई वहां की थी वहां तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भगवान शंकर जी की कृपा से हमारे हृदय में सदबुद्धि आई शंकर जी की कृपा से जब सदबुद्धि आई तो रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस का कवि तुलसीदास जी बन गया तो देखो शंकर जी की कृपा से तो भगवान की भक्ति आई भगवान राम की भक्ति आई और उनके भगवान के चरित्रों का तुलसीदास तो जी वर्णन किया लेकिन जब भरत जी जैसे भक्ति का वर्णन करने लगे हम्म, तो फिर भगवान श्री राम जी की कथा का वर्णन करते करते भरत जी की भी भक्ति का वर्णन करना पड़ा और जब भक्ति जी की भरत का वर्णन करना पड़ा तो तुलसीदास तो जी के हृदय में फिर सुमति आ गई मैंने एक और सुमति आ गई हाँ जैसे एक के बाद एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए हों तो अब देखो तीन तीन सीढ़ियां हो गई एक तो पहली सीढ़ी हो गई <clears throat> विश्वास रूप भगवान शंकर जी की आराधना उससे भगवान राम की भक्ति आई भगवान की राम की भक्ति आई तो फिर भरत की भक्ति आ गई ये बात जो है ये है अटपटी लगती है वैसे ये लगता है भगवान की भक्ति आ गई तो सबसे ऊंची श्रेणी पर पहुंच गए लेकिन ये बात भरद्वाज जी के आश्रम में भी वहां पर आई थी तो भरद्वाज जी कहते हैं कि देखो हमारे इतने पुण्य थे उन पुण्यों के फल से भगवान राम और सीता जी के दर्शन हुए और फिर क्या कहते हैं भगवान सीताराम जी के और सीता जी के और राम जी के दर्शन का फल क्या हुआ कि भरत जी के दर्शन हुए ये उनके भगवान के दर्शन का फल है भरत का दर्शन होना तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा इस संबंध में कि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं क्या रहस्य है कैसे कैसे यह क्रम आगे बढ़ता है तो उसी को यहाँ पर भी उसका संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति भी तुलसीदास ही मानते हैं भक्ति कोई अंतिम बात नहीं है भगवान श्री राम जी की भक्ति आ जाए तो फिर भक्तों में भक्ति आनी चाहिए जो भगवान के भक्त हैं उनमें भी भक्ति होनी चाहिए भगवान की भक्ति से भी अधिक भगवान के भक्तों की भक्ति है क्योंकि भगवान राम तो भगवान है ही सर्वत्र विद्यमान है ही उनकी भक्ति आई गई लेकिन जो भगवान के भक्त हैं <clears throat> उनमें तो भगवान और उनकी भगवत्ता उनके गुण और उनके धर्म सब मूर्तमान होने लगते हैं भक्त के हृदय में क्या देखते हैं कि भगवान के जितने भी गुण हैं ज्ञान है उदारता है त्याग है क्षमा आदि समस्त गुण है वो सब भक्तों के हृदय में आकर के मूर्तिमान होने लगे ऐसे जहाँ पर कि वो हो भक्ति मानो एक साक्षात रूप धारण कर लेती है भक्त के हृदय में आकर के तो वो तो और भी अधिक पूजनीय है तो उसका ये तुलसीदास जी उसकी ओर संकेत करते हैं आप ही छोटे महिमा बड़े जानी तुलसीदास जी कहते हैं हम तो अपने आप को देखते हैं बहुत छोटे हैं और <clears throat> उनकी तो भरत जी की महिमा बहुत बड़ी है भगवान राम की महिमा तो बहुत बड़ी है ही है लेकिन भरत की भी महिमा कम नहीं है वो उनसे भी ज्यादा है जहाँ कहीं वर्णन आया है वहाँ पर भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हैं कई लोग वर्णन करते हैं शंकर जी वर्णन करते हैं सरस्वती वर्णन करते हैं शेषनाग वर्णन करते हैं ये सब वर्णन करते हैं हजार हजार मुख से शेषनाग वर्णन करते हैं तुलसीदास जी के भगवान की महिमा शेषनाग जी हजार मुख से वर्णन करते हैं वो तो वहां ठीक है लेकिन जब धर्म की बात आती है तब क्या कहते हैं अरे सरस्वती जी भी इनकी महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है वर्णन नहीं करते जाते हैं हम्म, शास्त्र मुख से शेषनाग भी वर्णन करने में सब जाते हैं ये बात आने लगी तो मैंने भरत की महिमा को अब ये केवल बातें कहने कहने की नहीं कभी को लगा तो कभी लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं लंबी चौड़ी बातें हाँकते हैं इस प्रकार से बोले चले जा रहे हैं ये भाव नहीं रखना चाहिए शास्त्र में इसमें रामचरित मानस में अगर तुलसीदास जी कहीं कोई बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ करके बात कहते हैं इसलिए ये भगवान की भक्ति से भगवान के भक्तों के चरणों में भक्ति होना और भी महिमा की बात है और भी बड़ी बात है इसलिए कहते हैं कि आप छोटे महिमा बढ़ जानी और कभी कुल मानी तानी मानी सब कानी तो कहते हैं हमारी बुद्धि जो है वो कभी कुल कानी तानी मन मर्यादा है मर्यादा <clears throat> कभी कुल की मर्यादा को समझ करके हमारी जो है बुद्धि सब चाह रही है कि हम भरत जी की वर्णन कैसे कहें कि हमने भरत जी का कुछ वर्णन किया या हम भरत जी की महिमा का वर्णन करके अपने आप के मन में संतोष कैसे माने हम ये हमें संकोच लगता है अपने आप में तो कहीं न सकती गुण रुचि अधिकारी भरत जी के और भरत जी की भक्ति के गुणों का हमारी बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती लेकिन रुचि अधिकारी लेकिन ये मन में बहुत है कि भरत जी की भक्ति का वर्णन करें भरत जी की भरत की महिमा का वर्णन करें उनके हृदय में जैसी महान भक्ति है वो भक्ति का भी वर्णन करें ये तो खूब अच्छा लग रहा है अपने मन में आता तो है रुचि तो होती है लेकिन <clears throat> कहीं न सकते गुण लेकिन ये बुद्धि हमारे उनको सबको कह नहीं पा रही है तो देखो अपनी असमर्थता का व्यक्ति करते हैं तो तुलसीदास जी अपनी असमर्थता का व्यक्ति करके भी वर्णन करते हैं कि वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है वर्णन नहीं कर पा रहे हैं ये भी वर्णन करने का एक तरीका है हम्म, इसके माने है कि जो कोई भरत जी की महिमा है भरत की भक्ति है वो अकथनीय है बहुत महान है जहाँ तक इसका कि मैंने जितना वर्णन कर दिया ये नहीं समझना चाहिए बस इतनी ही भरत की महिमा है ऐसे नहीं है और भी बहुत अधिक है तो मतिगत दाल बचन की नाई कहते हमारी बुद्धि तो ऐसे है जैसे बच्चों की बात हो ऐसी बात है बाल बच्चन के माने क्या है जैसे बच्चों के मन में कोई भाव तो आते हैं कहना कुछ चाहते हैं उनके मन में विचार तो आए लेकिन उनके पास भाषा नहीं होती अभी उन्होंने भाषा सीखी नहीं बोलना ज्यादा सीखा नहीं इसलिए उनके पास शब्द नहीं मिलते अपने हृदय के भाव कह नहीं पाते गड़बड़ गड़बड़ करते हैं कभी इधर कहते हैं कभी इधर कहते हैं कुछ कहते हैं और, और लोग बाबुल से पूछते हैं क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो क्या कहना चाहते हो और वो कहने की कोशिश करते हैं कह नहीं पाते तो जैसे बच्चों की बात होती तो उसी जाति कहते बस वही गति हमारी भरत जी की भक्ति को देख करके वहां पर हमारी बुद्धि हो गई हम <clears throat> उनकी भरत की महिमा हृदय में हमारे थोड़ी बहुत आती है लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं तो शब्द नहीं मिलते कह नहीं पाते हैं अपनी असमर्थता इस प्रकार से व्यक्त कर दी तो कहते हैं भरत विमल जसु विमल विधु और सुमति चकोर कुमारी अब देखो तुलसीदास ने बहुत बुद्धि लगाई और बहुत कोशिश की तो इतना वर्णन किया क्या वर्णन कर रहे हैं भरत की महिमा कैसी है भरत विमल जसु भरत का यश बिल्कुल चंद्रमा के समान निर्मल है विमल विधु जैसे कि आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा चमचमा रहा हो खूब स्वच्छ बस वैसे ही भरत जी की भी महिमा है बिल्कुल निर्मल चंद्रमा के समान प्रकाशमान ज्योतिर्मय है और सुमति चकोर कुमारी और अपनी तो शब्द प्रयोग नहीं किया है लेकिन तुलसीदास जी का भाव यही हो सकता है कि हमारी जो बुद्धि है वो चकोर कुमार की तरह से है यह सुमति सदबुद्ध लोग जो उनके हैं उनकी सदबुद्धि वाले व्यक्तियों की बुद्धि चकोर कुमारी चकोरी की तरह से है बुद्धि स्त्रीलिंग इसलिए चकोरी कर दिया पुल्लिंग होता चकोर कर देते हैं तो जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता रहता है एक टक इसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि भरत जी की महिमा की ओर देखती रहती है माने कहने का तात्पर्य है कि जो सदबुद्धि अपने आप को समझते हैं जिनको ये समझते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत ठीक ठिकाने है उनको ये चाहिए कि भरत जी की महिमा की तरफ अपनी बुद्धि लगावे समझने की कोशिश करें कि भरत कैसे महान है उनमें क्या क्या गुण है भरत की भक्ति कैसी है उनकी भक्ति का क्या रूप है वे भगवान के प्रति क्या भाव रखते हैं अपने क्या स्थिति मानते हैं इस प्रकार से बोलते हैं इस बात के ऊपर अपनी बुद्धि लगानी चाहिए उनको और बार बार उसकी तरफ ध्यान दें तो ऐसा करने से भरत की जो है भक्ति उनके हृदय में भी आएगी तो उदित विमल जन हृदय न हो और यह अब जैसे कि चंद्रमा उदित होता है चांदनी छाती है आकाश में ये भौतिक आकाश में चंद्रमा निकला हुआ चांदनी छाई हुई है तो ये भरत जी का विमल यश रूपी चंद्रमा ये कहाँ प्रकट होता है तो उसका स्थान बताते हैं कहते उदत विमल जन हृदय नभ भक्तों के हृदय रूपी आकाश में ये है जिनका की हृदय भी विमल है वहीं पर ये प्रकट भी होते हैं चंद्रमा जिन भक्तों का हृदय निर्मल है विमल है निर्मल है उन निर्मल हृदय में ही भरत जी की भक्ति का चंद्रमा उदित होता है शेष उनके हृदय में ही आता है अब जिनके हृदय कलुषित हैं पाप कलुषित हैं पाप विद्ध हैं मलिन बुद्धि है उनके हृदय में भक्त की भक्ति आती नहीं है उसका प्रकाश उसका आनंद जो भरत के यश का भक्ति का है वो उनके हृदय में अनुभूत नहीं होता उदित विमल जन हृदय नभ और इकटक रही निहारी उसके ऊपर के सुमति चकोर कुमार के लिए कहते हैं कि इकटक रही निहारी जो सदबुद्धि चकोरी के समान है वो एक तक होकर के भरत जी के विमल चंद्रमा को वो निरंतर देखती रहती है तो अब दो बातें हुई एक और भक्त का हृदय जिसमें कि भरत जी की भक्ति रूपी चंद्रमा छाया हुआ है और दूसरे वो सदबुद्धि के व्यक्ति हैं वे लोग उस तरफ बराबर निरंतर दे, देखते रहते हैं एकटक होकर के माने कि वो संसार की तरफ नहीं देखते वो विषयों की तरफ नहीं देखते <clears throat> इन जो दुर्गुण दोष हैं अपने और बाई जगत के हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते बल्कि भरत जी की तरफ ध्यान देते हैं और उन्हीं की भक्ति को समझते हैं उनके गुणों को देखते हैं उनकी महिमा को सोचते हैं बस एकता को मैंने एकाग्र होकर के उसी तरफ ध्यान देते हैं यहाँ तक तो ये भरत जी की महिमा को तुलसीदास जी ने अपनी ओर से भी कहना था सबकी ओर से तो उन्होंने भरत जी की प्रशंसा कराई सभी पात्र जितने थे सबने कहा कि भरत की महिमा कैसी है भक्ति कैसी है तुलसीदास जी को तो अपनी तरफ से कुछ कहना था वो भी यहाँ पर उन्होंने कह दिया अब आगे भगवान श्री राम जी भरत की महिमा सुनाते हैं अब देखो उनका नंबर आता है भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं कि भरत सुभावन सुगम निगम लघुमति चापलता कवि क्षम सुनत सत्य भाव भरत को श्री राम पद हो नरत को सुमरत भरत प्रेम राम को जैन सुलभ ते सरिस बाम को देखी दयालत सास बही की राम सुजान जान जन जी की धर्म धुरीन धीर नागर सत्य सने सील सुख सागर देशुकाल लख समऊ समाजू प्रीति पालक रघुराजू बोले बचन बान सर्व सुसे हित परिणाम सुनत ससिर सुसे सात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा बचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसुम किम कही जात